परम पिता परमात्मा का स्मरण अत्यंत शुद्ध ज्ञान वाले परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों आर्यों की कामना प्रार्थना किस किस प्रकार की होनी चाहिए आर्यों की स्तुति कैसी होनी चाहिए इसका संग्रह आर्याभिविनय ग्रंथ में महर्षि दयानंद ने किया है महर्षि दयानंद वेद मंत्रों के माध्यम से जिस प्रकार की स्तुति और प्रार्थना किया करते होंगे उसको उन्होंने हम सबके लिए इस पुस्तक में संग्रहित किया है आर्यों की विनय परमात्मा के प्रति कैसी होनी चाहिए आज का मंत्र यजुर्वेद के बत्तीसवें अध्याय का चौदहवा मंत्र है आर्यावे विनय के द्वितीय प्रकाश का यह तरेपनवा मंत्र है परमात्मा से प्रार्थना की गई इसमें याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते हे परमात्मा याम मेधाम जिस बुद्धि को जिस मेधा को देवगणा देवों के समूह बहुत सारे देवता लोग उपासते उपासना करते हैं उसको धारण करते हैं उसका प्रयोग करते हैं और पितरश्च पितर लोक ज्ञान वृद्ध लोक रक्षक लोक जिस मेधा बुद्धि को धारण करते हैं जिसकी उपासना करते हैं वो मेधा बुद्धि वो कौन सी मेधा बुद्धि है मेधा शब्द का अर्थ होता है धारणावती बुद्धि जो धारण करती है बुद्धि ज्ञान को धारण करती है तो ऐसी बुद्धि जो धारण कर सके ये मेधा का एक सामान्य अर्थ हुआ जितनी भी बुद्धियां हैं वो धारण करती हैं कम या अधिक मात्रा में धारण तो सभी करते हैं तभी जीवन चलता है लेकिन जब उसी को विशेष रूप से कथन किया जाता है तो अभिप्राय होता है मैं जितना भी अच्छा सुनू जानू उस सबको धारण कर सकूं उस सबको धारण करने वाली जो बुद्धि है वो मेरे पास हो जब हम बल की कामना करते हैं तो उसका ये अर्थ नहीं होता कि हमारे पास कुछ भी बल नहीं है बल होता है लेकिन हम बल का उत्कर्ष चाहते हैं बल की वृद्धि चाहते हैं और अधिक बल चाहते हैं इसी प्रकार से यहां भी मेधा की कामना की गई है तो जिस मेधा को देवगण और पितर लोग धारण करते हैं जिसकी उपासना करते हैं महर्षि ने इसके लिए विशेषण दिया जिस विज्ञानवती यथार्थ धारणा वाली बुद्धि को मेधा धारण करती है लेकिन देवलोक किस मेधा की उपासना करते थे जो विज्ञानवती है जो विज्ञान से शुद्ध ज्ञान से युक्त है उच्च ज्ञान से युक्त है और इसके साथ विशेषण दिया यथार्थ धारण वाली बुद्धि जो चीज जैसी है उसको वैसा धारण कर सके ऐसी बुद्धि इस संसार को सभी देखते हैं देखते तो पशु पक्षी भी हैं और मनुष्य भी देखते हैं और मनुष्यों में भी सभी देखते हैं सुनते हैं संसार का अनुभव करते हैं और सभी को यह प्रतीत होता है कि हम ठीक ठीक जान रहे हैं जो बाहर का रंग रूप है जो बाहर का स्वरूप है उसको प्राय हम ठीक ठीक जान लेते हैं यदि बुद्धि एकाग्र ना हो शांत ना हो तो बाहर का रूप भी हम ठीक नहीं जान पाते लेकिन किसी वस्तु का बाह्य रूप जानना क्या यही उसका यथार्थ ज्ञान है कौन सी वस्तु क्या लाभकारी है किसमें लाभकारी है मेरे लिए वो हितकर है या नहीं है ये भी जानना होता है इसको भी हम एक सीमा तक जानते हैं और उसको जानते हुए वो मेरे लिए हितकर है या अहितकर है इसकी हमारी कसौटी क्या बन जाती है सामान्य जो पशु मात्र की प्राणी मात्र की बनती है कि जो इंद्रियों के लिए हितकर हो वो उचित है हित है अच्छा है और जो इंद्रियों के लिए दुख कर हो वो अहितकर है और यहां हमारा विवेक आके ठहर जाता है उचित अनुचित का निर्णय हम इंद्रियों से होने वाली संवेदनाओं पर केंद्रित करते हैं पशु पक्षी तो यहीं तक ही रहते हैं और उनका काम इतने से चल भी जाता है मनुष्यों में भी अधिकांश मनुष्य यहीं तक केंद्रित रहते हैं यहीं तक सीमित रहते हैं लेकिन इससे भी आगे जो बढ़ सके वो देव कहलाता है वस्तु का यथार्थ क्या है क्या ये वस्तु मात्र सुख देने वाली है इस वस्तु का किसी भी तरह प्रयोग करो ये मेरे लिए हितकर ही होगी यदि भोजन प्राप्त करना है तो धर्म पूर्वक करें वो मेरे लिए हितकर होगा या अधर्म पूर्वक प्राप्त कर लें वो भी हितकर होगा जो इंद्रियों तक सीमित है जो शरीर तक सीमित है वो भी उतने अंश में यथार्थ जान रहा है क्योंकि अधर्म पूर्वक कमाए गए धन से भी भूख तो मिटती है इंद्रियों की तृप्ति तो होती है जीवन तो चलता ही है ये अयथार्थ नहीं है इतना तो हम भी जानते हैं सभी जानते हैं इतना तो पशु भी जानता है पर वो मेरे लिए हितकर है या नहीं है ये बोध देवताओं में आता है जब मनुष्य पशुपन से ऊपर उठने लगता है तब ये बोध उसको आता है तो बुद्धि का मतलब केवल ये नहीं कि जो यथार्थ को जान ले मतलब स्थूल रूप से यथार्थ को जान ले सूक्ष्मता से यथार्थ को जो जान ले ऐसी बुद्धि चाहिए क्योंकि ये आर्य की प्रार्थना है आर्य देवताओं की स्तुति कर रहा है देवता लोग कैसी बुद्धि को चाहते थे हम उसकी बुद्धि चाहते हैं उस जैसी बुद्धि चाहते हैं जो हमारे लिए स्तुत्य है सामान्य बुद्धि को तो सभी चाहते हैं तो आर्य इस सामान्य बुद्धि की बात नहीं कर रहा है यह परमात्मा आर्य को यह नहीं कह रहा है कि आप स्थूल रूप से यथार्थ जानने वाली बुद्धि की कामना करो उसको तो पा चुका है आर्य वो अब देवताओं वाली बुद्धि को चाहता है तो यथार्थ धारण वाली बुद्धि का मतलब है वो ये समझ सके कि संसार की वस्तुएं परमात्मा ने किस लिए दी हैं इनका प्रयोजन क्या है उस यथार्थ तक जो जान सके ऐसी बुद्धि ऐसी मेधा मुझे प्राप्त हो फिर आगे कहा पितरों के लिए कि यथार्थ पदार्थ विज्ञान वाले पितर जिस बुद्धि के उपाश्रित होते हैं पितर यानी वृद्ध जन अनुभवी ज्ञान वृद्ध और पितर का शाब्दिक अर्थ देखें तो जो रक्षक हैं हमारे जो हमारी रक्षा करते हैं और वो यथार्थ पदार्थ विज्ञान वाले भी हैं वो जिस बुद्धि की कामना करते हैं जिस बुद्धि का आश्रय लेते हैं अब जब हमने उन्हें पितर कह ही दिया है वो ज्ञान वृत्त है अनुभव वृत्त है तो बुद्धि तो है ही उनके पास में और यथार्थ पदार्थ विज्ञान वाले भी वो हैं तो बिना बुद्धि के तो उन्होंने ये प्राप्त नहीं किया होगा इस विज्ञान को वो प्राप्त कर चुके हैं फिर किस बुद्धि की उपासना वो कर रहे हैं इस मंत्र के संदर्भ में प्राय हम ये सोचते हैं कि जिस बुद्धि को यानी ऐसी वो सामर्थ्य जिसमें बहुत ज्ञान है क्योंकि देवताओं की बुद्धि में बहुत ज्ञान है पितरों की बुद्धि में मेधा में बहुत ज्ञान है वो बुद्धि वो ज्ञान वाली बुद्धि जो कि तू मेरे पास में आ जाए इस मंत्र के साथ ये प्राय भावना जुड़ी रहती है क्योंकि अगली पंक्ति में कया कहा तया माम अद्य मेधया अग्ने हे अग्ने परम पिता परमात्मा ज्ञान स्वरूप परमात्मा तया मेधया उस बुद्धि के द्वारा उस बुद्धि से माम मुझे नम कुरु मेधावी बना दे मेधा से युक्त कर दे स्वाहा ये मैं सत्य वचन कहता हूं मैं चाहता हूं कि मेरी बुद्धि वैसी ही बन जाए तो जब ये प्रार्थना की जाती है तो प्राय मन में क्या भाव रहता है कि जिस तरह की प्रखर मेधा वाले वो हैं वैसी प्रखर मेधा मेरी भी बन जाए एक तो अंतःकरण की दृष्टि से उपकरण की दृष्टि से क्योंकि मेधा का एक अर्थ शीघ्र धारणवती बुद्धि भी होता है ऐसी मेरी इंद्रिय हो जैसी उनकी थी और दूसरा अर्थ जाता है कि जैसा ज्ञान उनकी बुद्धि में था वैसा ज्ञान मेरी बुद्धि में भी आ जाए और कामना है कि तया माम अद्य आज शीघ्रता से मेधा भी कर दो क्या परमात्मा उनकी बुद्धि तत्काल हमें दे सकता है बुद्धि तो इंद्रिय तो परमात्मा ने हमें दी ही है वो दे ही चुका है और उन देवताओं ने वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान साधना के बाद में जो ज्ञान प्राप्त किया है पितरों ने जो ज्ञान प्राप्त किया है क्या हम चाहते हैं वो ज्ञान आज ही जो का तू मेरे मेरी मेधा में मेरी बुद्धि में आ जाए क्या वो आ सकता है ज्ञान प्राप्ति में भी समय लगता है लेकिन हमारी कामना इस मंत्र को बोलते हुए प्राय ये रहती है कि मेरी इंद्रिय उन जैसी हो जाए मेरी इस बुद्धि इंद्रिय में मेधा में उन जैसा ज्ञान उन जितना ज्ञान जितना कहना ज्यादा संगत है उन जितना ज्ञान मेरी बुद्धि में भी आ जाए ये कामना हम करते हैं जिससे कि मैं भी देव और पितर बन जाऊं पहली बात तो इतना सब कुछ एकदम आज हो ही नहीं सकता लेकिन वेद मंत्र आज का कह रहा है तया माम अद्य आज ही जो संभव नहीं है उसकी प्रार्थना यहां पर की जा रही है तो केवल कामना मात्र है ये अब हम देखें कि जिस तरह की प्रखर मेधा देवताओं और पितरों में होती है क्या उस तरह की मेधा बुद्धि की प्रखरता दुष्टों में नहीं होती है राक्षसों में नहीं होती है जो बड़े बड़े अन्याय अत्याचार करते हैं बड़े संगठित ढंग से क्या बुद्धि की प्रखरता धारण करने की क्षमता स्मृति ये उनमें नहीं होती है बहुत होती है उनमें भी क्या इस संसार के पदार्थों का ज्ञान उनमें नहीं होता है बहुत सारी जानकारी उनको होती है उस जानकारी के आधार पर ही तो वो अन्याय अत्याचार अधिक कर पाते हैं जिसे ज्ञान ही नहीं हो वो तो कर नहीं सकता है तो मात्र अधिक क्षमता वाली बुद्धि मेधा की कामना यहां लक्ष्य नहीं है और न उसमें सूचनाओं का संग्रह विविध पदार्थों का ज्ञान मात्र वहां यह भी लक्ष्य नहीं है क्योंकि ये तो राक्षसों में अदेवों में भी होता है तो यहां जो दो विशेषण दिए देवता लोग जिस बुद्धि की उपासना करते हैं और पितर लोग जिस बुद्धि की उपासना करते हैं देवता कौन होते हैं जो देने की बुद्धि वाले होते हैं जो देना चाहते हैं दूसरों को ज्ञान देना चाहते हैं धन देना चाहते हैं सहयोग किसी भी तरह करना चाहते हैं देवताओं और राक्षस में भिन्नता तो यही है दोनों की बुद्धि में क्या भिन्नता है दुष्ट व्यक्ति भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है बहुत प्रयोग करता है रात भर जाग जाग के करता है वो भी बहुत कम सोता है आगे आगे की योजनाएं बनाता रहता है उस बुद्धि का खूब उपयोग करता है एक सामान्य सज्जन मनुष्य अपनी बुद्धि का उतना उपयोग नहीं करता जितना एक दुष्ट व्यक्ति जो बड़ी बड़ी योजनाएं लेके चल रहा है वो उसका उपयोग करता है ये उपासना का मतलब यहां पर नहीं है इतने मात्र से हम देव नहीं बनते देवता की बुद्धि देवता किस मेधा बुद्धि की उपासना करता है किस बात को सुरक्षित रखता है कि मेरे में देने की बुद्धि बनी रहे मैं दूसरों को देता रहूं जो है मेरे अंदर वो मैं देता रहूं ये मेधा बुद्धि वो हमेशा उपासना करता रहता है और ये मेधा बुद्धि आज हमारे अंदर आ सकती है उसी दिन आ सकती है दया माम अद्य मेधया मेधा विनम करू जितना भी ज्ञान है हमारे में जितना भी हमारे पास में है उसको हम आज ही अभी देना प्रारंभ कर सकते हैं देवत्व की बुद्धि हमारे पास उसी समय आ सकती है आज ही आ सकती है इसकी कामना कर रहा है आर्य आर्य जानता है कि एक वैज्ञानिक या एक विद्वान ब्राह्मण एक देवता ज्ञान की जिस स्थिति में है वो ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती उसके लिए श्रम लगता है समय लगता है लेकिन जो मूल है देने की प्रवृत्ति वो तो आज मेरे में भी आ सकती है और मैं उसी से युक्त होना चाहता हूं और पितर क्या होते हैं पितर रक्षक होते हैं बुद्धि है उनके पास में अनुभव है उनके पास में विज्ञान है उनके पास में लेकिन विशेषता क्या है वो पितर है वो दूसरे की रक्षा करने को उद्यत है पितर कहते ही उसको है जो छोटों की रक्षा करे घर परिवार में बड़े बुजुर्ग जो पितर हैं हमारे वो किस लिए पितर कहलाते हैं क्योंकि वो नई पीढ़ी की बच्चों की युवाओं की रक्षा करते हैं रक्षा का भाव उनमें सतत बना रहता है बड़े बुजुर्गों में छोटों के प्रति माता पिता में बच्चों के प्रति क्या भाव रहता है रक्षा का भाव मुख्य है वहां पर प्रेम भी रहता है लेकिन रक्षा का भाव बहुत मुख्य है तो हमारे अंदर ऐसी मेधा आ जाए जैसी मेधा पितरों की होती है दूसरों की रक्षा का भाव हमारी मेधा में भी रहे मैं भी उसी तरह उपासना करने लगू जितना भी मेरे पास में है वो दूसरों की रक्षा के लिए हो वो दूसरों की हानि के लिए ना हो दूसरों को भयभीत करने के लिए ना हो दूसरों के लिए बाधाएं खड़ी करने के लिए ना हो दूसरों को जो बाधाएं हो रही हैं उन बाधाओं से मैं उन्हें बचा सकूं रक्षा कर सकूं ये मेरी बुद्धि बन जाए और ये हर आर्य हर मनुष्य कभी भी बना सकता है सदा रख सकता है नहीं तो मंत्र की भावना करते हुए अनेक बार मन में आएगा कि उन जैसी बुद्धि तो मेरी है ही नहीं मेरी स्मृति वैसी नहीं है मेरा ज्ञान वैसा नहीं है और मंत्र की प्रार्थना करते करते मंत्र को बोलते बोलते भी वैसा बन भी नहीं पाते इतना आसान नहीं होता है लेकिन मन का मंत्र का मूल भाव यदि मन में आ जाए कि मुझे देना है दूसरे को मुझे दूसरे की रक्षा करनी है आज कुछ ना कुछ रक्षा करनी है किसी भी तरह से अज्ञान से रक्षा अन्याय से रक्षा अभाव से रक्षा सेवा नहीं है तो सेवा से दूसरे की रक्षा श्रम से रक्षा किसी भी तरह से मैं दूसरे की रक्षा करूं और परमात्मा के यही तो दो मुख्य गुण हैं जितने भी गुण है परमात्मा के उनमें देवत्व विद्यमान है परमात्मा में देने की भावना सतत बनी हुई है अपने लिए तो वो कुछ कर ही नहीं रहा है जितना भी वो कर रहा है वो देवत्व से युक्त होके कर रहा है देव भाव से युक्त होके कर रहा है और हमारे देवों ने परमात्मा के इसी गुण को ग्रहण किया और देव बन गए परमात्मा के द्वारा जो भी कुछ किया जा रहा है वो जीवात्माओं की रक्षा के लिए किया जा रहा है ये अनंत व्यवस्था है इतना अधिक सुगठित सुंदर सामंजस्य परमात्मा ने हमारी रक्षा के लिए बनाया है वो पितर है परमात्मा और हमारे पूर्वज मनुष्यों ने परमात्मा के इस गुण को समझा और उस गुण को समझ करके अपने में धारण किया वो भी पितर बन गए तो आर्य ये विनय कर रहा है यहां हे प्रभो हे अग्नि आप भी देव स्वरूप हैं और पितर स्वरूप हैं ज्ञान स्वरूप हैं और हमारे पूर्वज देवों ने जिस मेधा को पाया जिस मेधा की उपासना की पितरों ने जिस मेधा की उपासना की उसकी उपासना मैं भी करने लगूं ऐसी मेधा मुझे भी प्राप्त हो जाए और ये आज ही आनी चाहिए क्योंकि आर्य जानता है कि इन दो भावों से रहित यदि मेरा जीवन चल रहा है एक दिन भी एक घंटा भी तो मैं आर्य ही नहीं हूं मैं कुछ उपलब्धि नहीं कर रहा हूं मैं अपनी हानि ही कर रहा हूं आर्यत्व के लिए देवत्व के लिए और पितर बनने के लिए परमात्मा की आज्ञाओं के पालन के लिए जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए मुक्ति को पाने के लिए ये दो भाव आर्य में अत्यंत आवश्यक है और इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है विनय कर रहा है अपने पुरुषार्थ के साथ में वो ऐसा करने का प्रयत्न कर रहा है और फिर परमात्मा से भी प्रार्थना कर रहा है कि मेरा मन मेरी बुद्धि मेरी मेधा ऐसी ही बनी रहे मैं ऐसी ही मेधा की उपासना करता रहूं मुझे आज ही प्राप्त हो जाए महर्षि ने अंतिम वाक्य में लिखा स्वाहा का अर्थ खोलते हुए इसको आप अनुग्रह और प्रीति से स्वीकार करें परमात्मा की सहायता इसमें भी हमें चाहिए परमात्मा का अनुग्रह चाहिए जिससे मेरी जड़ता सब दूर हो जाए यदि ये दो भाव हमारे में नहीं है देने का और दूसरों की रक्षा करने का तो जड़ता है हमारे में हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये सृष्टि किस लिए बनी है और मेरा हित किस में है तो मेरी ये जड़ता दूर हो जो केवल स्वार्थ के लिए लगता है वो जड़ है वो जड़ के समान है उसे समझ ही नहीं है तो ये दो भाव हमारे में आर्यों में हो इस बात को मन में रखते हुए प्रार्थना को मन में रखते हुए ओम का स्मरण करेंगे और शांति पाठ ओ